विनय पत्रिका विनयावली जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे का को नाम पतित पावन जग कही अति दीन पियारे जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे कौने देव बराए विरदहित हठि हठिय अधम उधारे खग मृग व्याध पसान बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे जाऊँ कहा चरण तुम्हारे जाऊँ कहा चरण तुम्हारे देवदनुज मुदे नाग मनुज सब माया विवश विचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पोहारे जाऊँ कहाँ तेरी चरण तुम्हारे जाऊँ कहाँ तेरी चरण तुम्हारे हे नाथ आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं संसार में पतित पावन नाम और किसका है आपकी भांति दीन दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठपूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया है किस देवता ने पक्षी अर्थात जटायु पशु वृक्ष बानर आदि व्यास बाल्मीकि पत्थर अहल्या जड़ वृक्ष यमलार्जुन और यवनों का उद्धार किया है देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के वश हैं स्वयं बंधा हुआ दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकता है इसलिए हे प्रभो यह तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथों में सौंप कर क्या करे हरि तुम बहुत अनुग्रह की हो हरि तुम बहुत अनुग्रह की हो साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीन हो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो कोटिहु सुख कहे जातन प्रभु के एक एक उपकार कीनो तदपि नाथ कछु और मांगे हों दे जय परम उदार विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पल ताते सह विपत यति दारुण जनमत जो नियने कृपा डोरी बन से पदयंकुश परम प्रेम मृदु चारो यही विधि बेधि हरहु मेरे दुख तुक राम तिहारो है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कही कही दीन निहो तुलसीदास यही जीव मोहरजु जही बांधो सोई छोरे जही बांधो सोई छोरे हे हरे आपने बड़ी दया की जो मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ साधनों के स्थान मनुष्य शरीर को कृपा पूर्वक दे दिया यद्यपि आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता तथापि हे नाथ मैं कुछ और मांगता हूँ आप बड़े उदार हैं मुझे कृपा करके दीजिए मेरा मन रूपी मत्स्य विषय रूपी जल से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता इससे मैं अत्यंत दारुण दुख सह रहा हूँ बार बार अनेक योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ता है इस मन रूपी मच्छ को पकड़ने के लिए हे राम जी आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए और अपने चरण के चिन्ह अंकुश को वंशी का काटा बनाइए उसमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा चिपका दीजिए इस प्रकार मेरे मन रूपी मच्छ को बेध कर अर्थात विषय रूपी जल से बाहर निकाल कर मेरा दुख दूर कर दीजिए आपके लिए तो यह एक खेल ही होगा यो तो वेद में अनेक उपाय भरे पड़े हैं देवता भी बहुत से हैं पर यह दीन किस किस का निहोरा करता फिरे हे तुलसीदास जिसने इस जीव को मोह की डोरी में बांधा है वही इसे छुड़ावेगा यह बिनते रघुबीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो फरो जीव जड़ताई चाहू न सुगते सुमति संपति कछु हृदय सिद्ध विपुल बढ़ाई हेतु रहित अनु राग राम पद बढ़यनु दिन अधिकारीटिल कुटिल करम जाहि मोहि जह जह अपने बरियाई तह तह जन छिन छोह छाड़ियो कपट अंद की नाई जा जग में जह लगिया तनु के प्रीति तस गाई ते सब तुलसी दास प्रभु ही सो हो सिमट एक ठाई हे श्री रघुनाथ जी हे नाथ मेरी यही विनती है कि इस जीवन को जीव को दूसरे साधन देवता या कर्मों पर जो आशा विश्वास और भरोसा है उस मूर्खता को आप भर लीजिए हे राम मैं शुभ गति सद्बुद्धि धन संपत्ति ऋषि रिद्धि सिद्धि और बड़ी भारी बड़ाई आदि कुछ भी नहीं चाहता बस मेरा तो आपके चरण कमलों में दिनों दिन अधिक से अधिक अनन्य और विशुद्ध प्रेम बढ़ता रहे यही चाहता हूँ मुझे अपने बुरे कर्म जबरदस्ती जिस जिस योनि में ले जाए उस उस योनि में ही हे नाथ जैसे कछुआ अपने अंडों को नहीं छोड़ता वैसे ही आप पल भर के लिए भी अपनी कृपा न छोड़ना हे नाथ इस संसार में जहाँ तक इस शरीर का स्त्री पुत्र परिवार आदि से प्रेम विश्वास और संबंध है सो सब एक ही स्थान पर सिमट कर केवल आपसे ही हो जाए जान की जीवन की बल जय हूँ चेतक हे राम सिय पद परिहरी अब न कहो चली जई हो उपजे उर प्रतीत सपन हो सुख प्रभु पद विमुख न पई हो मन समेत या तन के बासिन यह सिखावन दई हो रुकी श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हूँ रसना और नन गई हूँ रुकी हूँ नयन बिलोकत और शेष ये सही नहीं हो ना तो ने नाथ सो करी सब ना तो नेह बही हो यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कह हो जाको दास कह हो मैं तो श्री जानकी जीवन रघुनाथ जी पर अपने को न्यौछावर कर लूँगा मेरा मन यही कहता है कि अब मैं श्री सीता राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाऊंगा मेरे हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अपने स्वामी श्री राम जी के चरणों से विमुख होकर मैं स्वप्न में भी कहीं सुख नहीं पा सकूंगा इससे मैं मन को तथा इस शरीर में रहने वाले इंद्रियादि सभी को यही उपदेश दूंगा कानों से दूसरी बात नहीं सुनूंगा जीव से दूसरे की चर्चा नहीं करूंगा नेत्रों को दूसरी ओर ताकने से रोक लूंगा और यह मस्तक केवल भगवान को ही झुकाऊंगा अब प्रभु के साथ नाता और प्रेम करके दूसरे सबसे नाता और प्रेम तोड़ दूंगा इस संसार में मैं तुलसीदास जिसका दास कहूँगा फिर अपने सारे कर्मों का बोझा भी उसी स्वामी पर रहेगा अब लो न सारी अब न सही हूँ राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न सही हूँ पायु नाम चारु चिंता मणि उर करते नख सही हो श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसई हो पर बस जाने हसोई न इंद्रिन निज बस भय न हसई हो मन मधुकर पन कह तुल से रघुपति पद कमल बसई हो रघुपति पद कमल बसई हो अब तक तो यह आयु व्यर्थ ही नष्ट हो गई परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है मैं संसार की माया रात्रि से जग गया हूँ अब जागने पर फिर माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा अब फिर माया के फंदे में नहीं फंसूंगा मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है उसे हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं गिरने दूंगा अथवा हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूंगा और हाथ से राम नाम की माला जपा करूंगा श्री रघुनाथ जी का जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कसूँगा अर्थात यह देखूंगा कि श्री राम के ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लगता है कि नहीं जब तक मैं इंद्रियों के वश में था तब तक उन्होंने मुझे मनमाना नाच नचाकर मेरी बड़ी हंसी उड़ाई परंतु अब स्वतंत्र होने पर यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा अब तो अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा अर्थात श्री राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह मन को जाने ही नहीं दूंगा